संदेशो देव की सो कहियो संदेशो देव की सो कहियो हम तो धाई तिहारे सुत की मया करत ही रहियो संदेशो की सो कहियो संदेशो देव की सो कहियो व तुम जानती उनकी तव मोहि कहियावे प्रात हो मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे लव बटनो अरुता तो जल ताहि देखि भज जाते जोई जोई मांगते सोई सोई देती जोई जोई मांगते सोई सोई देती क्रम क्रम कर नाते संदेशो देव की सो कहियो संदेशो देव की सो कलियो पथिक सुनी मोहि न दिन बढ़ो रहत उर सोच मेरो अलग लड़े तो मोहन मेरो अलग लड़े है करत संकोच संदेशो की सो कहियो संदेशो की सो कहियो सूरदास जी के शब्दों में माता यशोदा कह रही हैं पथिक देवकी से यह संदेश कहना कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ अतः मुझ पर कृपा ही करती रहना यद्यपि तुम उन अपने पुत्र का स्वभाव जानती हो फिर भी मुझसे यह कहे बिना नहीं रह जाता कि मेरे दुलारे लाल को सवेरा होते ही मक्खन रोटी प्रिय लगती है वे तेल उबटन और गर्म पानी देखकर भाग जाते थे अतः जो जो वह मांगता था वही वही मैं देती थी और उस प्रकार धीरे धीरे करके स्नान कराती थी अरे पथिक सुन मुझे रात दिन यही सोच बढ़ा रहता है कि मेरा अत्यंत दुलारा मोहन वहां मथुरा में संकोच करता होगा मेरे हा कमल दल लोचन मेरे कान हा कमल दल लोचन अब की बेर बहुर फिर बहू कहाँ लगे जिये सोचन मेरे कान कमल दल लोचन यह लाल सा होती मेरे जिय बैठी देखत रही हूँ गाय चरावत कान कुंवर सो गाय चरावन कान कुंवर सो बहुरन कबहू कई करत न्याय न बर जो कबहू हो अरुमाखन की चोरी अपन जियत नयनन भर देखो हरिहल धर की जोरी दिवस चार मिले जाऊ सावरे कहियो यही सदेश अब की बेर यान सुख दी जय सूर मिटाई दिवस चार मिली जाहु सांवरे दिवस चार मिल जाओ सांवरे कहियो यह संदेशो अब की बेर यान सुख जय सुर मिटाई अंदेशो सुर मिटाई अंदेशो सूरदास जी के शब्दों में माता यशोदा कह रही हैं मेरे कमल दल के समान नेत्रों वाले कन्हैया तुम अपने चित्त में क्या सोचने लगे हो अरे इस बार फिर ब्रज लौट आओ मेरे मन में यही लालसा जागृत कर रहती है कि तुम्हें बैठी देखती रहूं और अपने कुंवर कन्हैया से फिर कभी गायें चराने को न कहूं कोई भी अनिति यहाँ तक कि मक्खन की चोरी करते भी उन्हें कभी रोकू नहीं बस अपने जीते जीन आंखें भरकर श्याम बलराम की जोड़ी देखा करूं पथिक यही संदेश कहना कि श्याम सुंदर चार दिन के लिए आकर मिल जाओ इस बार आकर हमें आनंदित कर दो जिससे हमारा सोच मिट जाए दूर हो जाए अब कह लाल हो फिर बारे अब कह लाल हो फिर बारे कैसे टेव मिटति मन मोहन आंगत दौलत फिरत उघारे अब कह लाल हो फिर बारे कैसे टेव मिटति मन मोहन आंगन डोलत फिरत उभारी माखन कारण कर तल जो उठ पर कत दधिमाठ सकारी कछुक भाज ले जात जुभावत सुख पावत जब खात ललारी जा कारण हो भरमत बेहवल लय कर लकुट फिरत गुन हारे सूरदास प्रभु तुम मन मोहन भूप भये देखती हो प्यारे भूप भय देखती हो प्यारे सूरदास जी के शब्दों में माता यशोदा कह रही हैं लाल इस बार फिर बालक बन जाओ मनमोहन मेरे आंगन में तुम नंगे घूमते फिरते थे वह स्वभाव तुम्हारा कैसे छूट जाएगा याद करो मक्खन के लिए तुम किस प्रकार मचला करते थे और सवेरे ही उठकर दही का मटका पकड़ लेते थे और जो तुम्हें प्रिय लगता था वही थोड़ा सा लेकर भाग जाते थे तथा जब तुम इस प्रकार खाते थे लाल तब मैं सुखी होती थी जिसके लिए मैं हाथ में छड़ी लेकर अपने लज्जादि गुण त्याग कर व्याकुल होकर भटकती फिरती थी वही मनमोहन प्यारे तुम अब राजा हो गए हो यह मैं देखती हूँ